नमस्कार आज जो कविता मैं आपको अपनी लिखी हुई सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मौन की भाषा मौन जिसमें कोई स्वर नहीं होता परंतु मौन की भाषा को सुना और समझा जा सकता है आ, यह तो सुनने वाला और समझने वाला ही बता सकता है कि इसकी भाषा होती कैसी है आप भी कभी गौर से सुन के देखिए मौन के भी स्वर होते हैं और प्रेम में विशेषकर प्रेम में इस मौन की नई नई भाषाएं रची जाती हैं तो आइए सुनते हैं यह गीत मैं बनूंगी मौन की भाषा नई मैं बनूंगी मौन की भाषा नई मैं बनूंगी मौन की भाषा नई बन के धुन स्वर मेरे बस छू जाना तुम बन के धुन स्वर मेरे बस छू जाना तुम मैं भरूंगी स्नेह से आंचल मेरा मैं भरूंगी स्नेह से आंचल मेरा बन के झोंका नेह का छू बन के झोंका ने हका छो जाना तुम मैं लिखूंगी मैं लिखूंगी प्रेम का इतिहास नव मैं लिखूंगी प्रेम का इतिहास नव बन भ्रमर बस पंखुरी छू जाना तुम बन भ्रमर बस पंखुरी छू जाना तुम भीत मन की प्रीत के रंग में रंगे भीत मन की प्रीत के रंग में रंगे बन के ओस अधरों को छू जाना तुम बन के ओस अधरों को छू जाना तुम बावरी हृदय के तारों को छू जाना तुम मैं गुनूंगी गीत भावों से भरा मैं गुनूंगी गीत भावों से भरा बस किरण बस किरण बन देह को छू जाना तुम मैं बनूंगी मौन की भाषा नई बन के धुन स्वर मेरे बस छू जाना तुम बन के धुन स्वर मेरे बस छू जाना तुम धन्यवाद